विशुद्ध विज्ञान घनी घर सम्मे पशुता किस प्रकार के आत्मा का अनुभव कर रहा है अद्वय आत्मा को अद्वय आत्मा भी कैसा है विशुद्ध विज्ञान घनी घर स्वरूप ही है उसी दृष्टान की तरफ समझाने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है यथोदकम शुद्ध प्रसन्न शुद्धम प्रसन्नम आसिकम शुद्ध जल में स्वच्छ जल में डाला हुआ स्वच्छ जल मिलकर जिस प्रकार से एक रसम एव भवती एक रस हो जाता है प्रसन्नम मैंने स्वच्छता तात्पर्य प्रसन्न से स्वच्छता नान्यथा सागर के भवती वह अन्य अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं करता किंतु एक भाव में ही रह जाता है ठीक एवं एवं भवती एकत्व में जान दो मुने है इसी प्रकार की एकत्व उस विज्ञानवान पुरुष के प्रति होगा मननशील हे गौतम तस्मा कुतार्क भेद दृष्टि नास्तिक दृष्टि च उचित्वा इसलिए कुतार्किकों की जो भेद दृष्टि है और जो नास्तिकों की कुदृष्टि है उनको उजाड़ करके फेंक दो मातृ पितृ सहस्रेभ्यो भी हित ही शिणा दे देना हजारों माता और हजारों पिताओं से भी ज्यादा हित को चाहने वाले इस वेद के कथन के आधार पर उपदिष्ट मात्र दर्शनम शांत पैर आदरणीय इसलिए वेद के द्वारा उपदिष्ट इस आत्मिक दर्शन दर्शन को शांत दर्प वाले अहंकार को परित्याग किए हुए पुरुषों के द्वारा अवश्य ही आदर करनी चाहिए अर्थात मोक्षों के द्वारा यही दर्शन को सदा रखना चाहिए चिंतन करना चाहिए मनन करना चाहिए इसी का अनुभूति के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए यहाँ पर बड़े जबरदस्त बोल दिया महत्व पितृ सहस्र हितैषिना वेदेना वेद एक ऐसी चीज है जो हजारों माता हजारों पिताओं से भी ज्यादा हित को चाहने वाला है क्योंकि ये लोग भी जो चाहते हैं चाहते भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि असमर्थ क्योंकि ये जो माता पिता हुआ करते हैं ये अपने आप में असमर्थ है ये कुछ कर नहीं सकती चाहते तो बहुत कुछ है लंबा चौड़ा चाहते कौन सी माँ बाप नहीं जो नहीं चाहते अपना बेटा है ऑफिसर हो जाए सभी चाहते और चाहने से थोड़ा हो जाएगा कोई वो कर नहीं सकते ज्यादा ज्यादा बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहना देंगे बढ़िया से बढ़िया जूता पहना देंगे खूब बढ़िया से बढ़िया बस्ता खरीद के लाएंगे नहीं और स्पेशल बस गाड़ी व्यवस्था कर देंगे ले जाओ ले आओ स्कूल कॉलेज नहीं और क्या कर सकते खोपड़ी में विद्या तो भर नहीं सकता लेकिन वेद बोध आत्मा जो ब्रह्म कहता है मेरे कह दिया वह आत्मा जिसको वर्ण कर दे उसके सामने क्या कहना है वो परमानंद प्राप्ति हो जाएगी इसलिए कहते कि भाई देखो ये हजारों माता पिताओं से भी वेद महान है जो उस तत्व का प्रकाशन कर देता है जिस तत्व का अनुभूति करने के पश्चात शोक मोह विद्या सहित खत्म हो जाता है तो विचार तो पूरा यदि भी हो गया है और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत तो था नहीं ग्रंथ को लेकिन वही ना हजारों माता पिताओं से भी महान है ना वेद वो जानती है बच्चे को इज अ दुर्विज्ञ सूक्ष्म होता है सात तत्व को समझाने के लिए हमें और बोलना पड़ेगा भाषकर इसलिए कहते हैं पुनर्वि प्रकारांतरण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ आरंभ दुर्विज्ञ तत् ब्रह्मणा पुनः प्रकारांतर से इसी ब्रह्म तत्व निर्धारण करने के लिए ही अगले वल्ली का आरंभ किया जा रहा है क्योंकि यह ब्रह्म तत्व दुर्विज्ञ है पूरम पूरम इवा पूरम पूर्व के साथ रिश्ता को देखकर दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है पुरम एकादश द्वार अजस्यावक्र चेतस अनुष्ठा न शोचती विमुक्त विमुचद एक तत्व पुरम एकादश नव नवद्वारे पूरे दे आपने पढ़ा स्मृति तो नव द्वार कह रही और एक अरे एकादश द्वार पुरम ग्यारह द्वार वाला पर कौन सा आ गया कहते तो कोई बात नहीं वहाँ जब प्रसिद्ध नव नव द्वारों को गिनती किया और जो अप्रसिद्ध दो और द्वार हैं एक तो ब्रह्मरंद्र है ऊपर सर के ऊपर रहता है ये जो छेद है जो बंद हो गया ना इसलिए वो दिखता नहीं तो उसको लोग गिनते नहीं स्मृतिकारों ने इसलिए उसको गौण कर दिया और दूसरा द्वार जिस द्वार के माध्यम से गर्भ में हम पलते आए कौन सा द्वार नाभि गर्भ में इसी से तो पले हम पूरा हमारे नाड़ी संस्थान बुद्धि मस्तिष्क सब कुछ बना है यहीं से इसी से पूरा बना कंट्रोल यहीं से था बम यहाँ से काट के कंट्रोल यहाँ से चालू हो गया इसलिए आजकल भी जो है जो जानकार लोग होते हैं मान लो किसको जुकाम काम हो गया सर्दी परेशान का हो रहा है तो गरम गरम सरसों तेल लगा देंगे नाभी में पूरे शरीर में वो तुरंत गर्मी देकर खींच लेता है ठंडक को आज भी एक्टिव है भले काट दिया आपने उतने हिस्सा को एकदम सुखा दिया है सूख जाता है वो लेकिन फिर उसमें जान है बहुत गर्मी लग जाए क्या करते यहाँ चंदन लगा देते मिट्टी का लेप कर देते सारी गर्मी को खींच लेता तो ये भी एक द्वार है इन दोनों को लेकर के इन्होंने एकादश द्वारम बाकी नौ तो सुप्रसिद्ध है ना दो कान है दो आंख है दो नाक है ये क्या सात तो सिर में ही हो गया ये आठवा सिर का जिसको छोड़ दिया गया नव द्वारे पूरे दी नीचे दो वो प्रसिद्ध ही है सात दो नौ हो गया कि नहीं दस और ग्यारह एकादश द्वार वाला यह पुरे अजस्य किसका है ये लेकिन अज का जो जन्मता ही नहीं है उसके नगर है उसकी नगरी है जो कभी जन्म ही नहीं लेता जन्म नहीं लेता होगा फिर भी शरीर के संबंध तो होता होगा इसमें कुछ न कुछ तो नहीं नहीं अवक्र चेत उसके चैतन्य स्वरूप में किंचित भी वक्रता आती नहीं फिर भी शरीर के साथ उसका जो आनंदमय लीला चल रही है बड़ा आश्चर्य की बात है यही तो समझने वाली बात है सारे वैज्ञानिक सारे दार्शनिक यही आगे फैल हो जाते ये समझ ही नहीं बात यार कैसा ही ब्रह्म होगा सारा लीला कर रहा है और कर भी नहीं रहा बड़ा गजब है शरीर में प्रवेश भी किया और नहीं भी किया निरुक्त निरुक्त निरंचा निरंचा सारा विरुद्ध भी बातें बात वेदांत को इसलिए पचाना कठिन होता है सब विरुद्ध बात बोलते हैं कर भी रहा हूँ नहीं भी कर रहा हूँ ये कैसी बात है देख भी रहा हूँ नहीं भी देख रहा हूँ अलग गजब है व्यवहारिक सत्ता से हम देख रहे हैं और पारावा सत्ता से हम देख नहीं रहे हैं ये सत्ताओं को समझ ही नहीं सकते हो कैसे हुई कैसे आई कहा से क्यों दिखाई दे रहा है ब्रह्म में कोई नहीं समझ सकता है मिथ्या है मिथ्या कैसे बात ये भी जाएगा मिथ्या क्यों बड़ा लगता है बहुत समय लगता है इन चीजों को समझने में अनेकों जन्म लग जाते हैं नहीं तो जान पूछते जाए तो तर्क करने लग जाए इसे कोई जवाब नहीं पहली सृष्टि कब हुई है तो तुम्हारी बुद्धि दिवाला हो गया है जवाब है नहीं तो अनादि कह दिया क्यों कर रहा है जीव के कर्म के जीव कहा से आए भाई उनके कर्म कहा से हुआ कहोगे बीजांकुर न्याय कुकुटांड न्याय ये सब लाओगे हम कहते ये सब बुद्धि की जिसकी दिवाला है ना जिसके अकल में वो ताकत है नहीं जवाब देने का वो कहेगा क्या बीजांकुर अनादि से चला है और अनंत कहा तो चलते रहेगा संसार वास्तव में इसलिए अजातवाद में आना पड़ता है जगत हुआ ही नहीं है दिखाई देता है अरे तुम तो तुमको दिखाई दे रहा है जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए अज्ञान है उसके लिए माया है उसके लिए सृष्टि है उसी के लिए सारी व्यवस्था बताई जा रही है वाक्य में है ही नहीं मुझे क्यों दिखाई दे रहा है मुझे कहा दिखाई दे रहा है तुमको तुमको जहां दिखाई दे रहा वही तुम हो वास्तव में यह बात तो समझता नहीं तुमको जहां ये सब दिखाई दे रहा है वही तुम हो वही है तुम ये बात समझ नहीं सकता जैसे मेरे बाहर दिख रहे हैं सब बैठे हुए सामने यही तो जो अंदर है वही बाहर दिख रहा है समस्या तो ये हो रहा है ये बड़ा कठिन काम जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर कैसे दिखाई दिया बहुत समझाओ स्वप्न का दृष्टांत भाई स्वप्न में तो यही से होता है ना तो जहाँ सोए वहीं सोए रहते हो तुम जहाँ वही हो और तुम्हारे अंदर ही दिखाई दे रहा था वो दिन लगा लगा गया अब बाहर घूम रही थी कई बार तो ऐसे भी होता है स्वप्न में आप जहाँ भी हैं वो पड़े तो वही हैं और स्वप्न कहीं बाहर गए हैं डर डर के मार के आप आ रहे हैं और अंदर घुस रहे दिख रहा है ऐसे आपको आप कह सकते हैं आप उस शरीर में आ रहे हैं वापस ऐसे स्वप्न देखा है कभी आपने शायद नहीं देखा हो तो देख लेना कभी हमारे अनुभव है हमने ऐसे भी स्वप्न देखे हम वापस आ रहे हैं शरीर के अंदर वहां गए परेशान हो गए वहाँ वहाँ बहुत परेशानी हुई धक्का खाया बड़ा दुख हुआ तो सोचा चलो भाई ये तो बेकार जगह हम कहा आ गए हम वहीं जाते हैं वापस वापस हम इधर आ रहे हैं और वापस शरीर के अंदर जा रहा हूँ और बिल्कुल लय होके फिर सो गया दो घंटा आराम से कर जगा ऐसे ही स्वप्न देखा तो वो सब देखने के बाद अनुभव में समझ में आता है वैसे ही है सब कुछ भीतर ही बाहर दिखता है परम एकाश द्वार अजस्य वक्र चेत अनुष्ठाय न सोचती ऐसे आत्मा का अनुष्ठान करके सम्यक ज्ञान करके न सोचते और अजीवन मुक्त होते हुए अंत विधेय मुक्त हो जाएगा ऐसा वो आत्मा को ही बारे में ही तुमने जो प्रश्न पूछा था वो यही है पूरम मैंने पूरम ही वो पूरम ये पूर्व के समान पूरे नगर के समान नगर है ये क्योंकि नगर में भी क्या होता है और नगर से भी नेक मालिक हुआ करता है जो आजकल डीएम साहब कहते नहीं कलेक्टर साहब डीएम साहब कुछ न जैसे नाम से पुकारा जाता है पहले जमाने राजा होते थे अब नगर से वो भिन्न होता था ना कि नहीं होता था वो नगर ही होता था क्या वो नगर भी नहीं नगर का अवयव भी नहीं नगर से भिन्न होता था नगर का अभिमान करता था और नगर का सम्यक प्रकार संचालन करता था आवागमन पर भी नियंत्रण रखता था इसे नगर के समान यह शरीर भी नगर है द्वारपाल अधिष्ठात्र आदि अनेक पूर्व उपकरण संपत्ति दर्शना क्योंकि शरीर में क्या देख रहे हो आप जैसे वहाँ द्वारपाल होते हैं वहाँ अधिष्ठाता लोग होते हैं प्रत्येक ग्राम के ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के प्रधान नहीं नगर पालिका के अध्यक्ष नहीं होते सारे इस तरह के जो पूरा नगर के विशाल जो है अपना राज्य के अंदर अधिष्ठाताओं को आप देखते हो आदि अनेक पूर्व उपकरण संपत्ति इस प्रकार से अनेक जो पूर्व के साधन हुआ करते उपकरण हुआ करते हैं वैसे ही अनेक उपकरणों से संपन्न यह भी शरीर हमें देखने को मिलता है इसलिए शरीर पूर्व के समान पूर्व है दर्शनाथ शरीर विपुरम इव पुरम भवदी पुरम च सोपकरण स्वात्मना असंहत स्वतंत्र अर्थम दृष्टम कहते पूर्व को भी मैं देखा सोपकरणम स्वात्म असंहत स्वतंत्र अर्थम दृष्टम उपकरण से तो स्पुर को कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप से इन सब से अलग होते हुए असंहत इन सब से संहत नहीं है और स्वतंत्र भी है और अपने स्वामित्व के लिए ही वह इस पर अधिकार रखता है ऐसा लोक में देखने को मिलता है तथा ठीक उसी प्रकार से इदम शरीरम पुर सामान्य उपकरण संहतम शरीरम यह जो शरीर है ये पूर्व की सामान्यता को देखते हुए अनेक उपकरण से संहत फिर भी इसमें स्वात्मना असहत राजस्थानीय स्वाम्यर्थम राजा के स्थान आपन है जो जैसे वहाँ पूरे नगर में राजा हुआ करता है उसी प्रकार से ये अपने आप स्वरूप से ये इस शरीर रूपी नगर के अंदर राजा के समान है राजस्थान का ऐसा तो नहीं करना राजस्थान की कोई वस्तु राजस्थानी <laughs> राजा के स्थानापन्न स्वामी भवितुम अर्ति तम शरीरात्यम पुरम एकाश द्वार एकाश द्वारा असत शीर्षण्याणी लाभ्य सह और वांछित थ्री शरसी एकम तैर एकाश द्वारम पुरम पुरम जैसे पुर के समान पुर कैसे जैसे वहां भी अनेकों द्वार होते हैं द्वार होते हैं और उसी प्रकार यहाँ पर ग्यारह द्वार है एकादश द्वार कौन कौन है अस्या एकाश द्वारा सीधी एकाश द्वारम समास वर्ग सप्त शिवसन्यानी सात तो जो प्रसिद्ध है इस में वही है नाभ्या सह और नाभि के सहित और वांछित नाभि सहित नीचे में तीन हो गया तो सात तीन दस और एक कौन है शरसी एकम जो ब्रह्म जो छिद्र था एक द्वार जहां अंदर प्रवेश किया ऐतर उपनिषद में ही तो आता है इस खोपड़ी का उस बीज को छेद कर दिया विदारिया लिखा है वहां पर ड्रिलिंग कर दिया उसने और इसके अंदर से आगे अंदर सीधा यहाँ से यहाँ का एक रूट है उस हाईवे से अंदर आके सीधा हृदय में बैठ गई इसलिए कहा गया सातवें महीने के पूर्व में यदि आप गर्भा गर्भ को गिरा देता है कोई तो दोष नहीं माना गया सातवें महीने का पहला दिन से लेकर के यदि गिराया गया तो वह गर्भपात का पाप से युक्त हो जाएगा उसे पूर्व तक गर्भपात को दोष नहीं माना गया है छह महीने तक गर्भपात हो सकता है गर्भोपनिषद कहता है जीव का जो प्रवेश है ये सातवें महीने का पहला दिन होता है कट्टरवादी लोग अलग है जो कहते हैं कि भाई करना ही नहीं बिल्कुल ही जनसंख्या को बढ़ाओ कोई आपत्ति नहीं <laughs> वो नहीं है सिद्धांतिक दृष्टिकोण से सात महीने में प्रवेश बताया गया है जीव का इस जीव हत्या है नहीं तो मांस का टुकड़ा को फेंक दिया आपने जैसे ऑपरेशन करके फेंक देते हो क्या आपत्ति नहीं फेंकते है क्या बीमारी हो जाए इधर उधर ऑपरेशन करके निकाल देंगे नहीं टुकड़े मांस को जो भी मांस का लत्था बना हुआ तो फेंक दिया आपने क्या आपत्ति दोष नहीं अच्छा उसके हाथ में है देश तुम्हारे हाथ में क्या है कितने बार सुनते हो ईश्वर के हाथ में सब कुछ कोई भी चीज जो है बिगड़ता नहीं है उसके हाथ में हम लोग कौन होते संभालने वाले अपने शरीर को संभालने की योग्यता नहीं है तो इसलिए यहाँ कहते हैं तथा इदम ये कह दिया इसी प्रकार से तो जन्मादि कश्य ये का सुधारा लेपुर किसका है अजस्य अज का ही जन्मादि विक्रिया रहित जन्म सकल विकारों से रहित तो उस आत्मा का ही यह नगर है आत्मनो राजस्थानीय पूरा धर्म विलक्षण राजा के अपन पूरा धर्मों से जो विलक्षण है वो अवक्र चेत सो अवक्रम ने अकुटिलम आदित्य प्रकाश नित्यम एव अवसित एक रूपम चेतो विज्ञान अस्य अवक्र चेता तस्या अवक्र चेत ये राजस्थानीय ब्रह्मण अवक्रमण आपको अपना मतलब आदित्य के प्रकाश के समान नित्य विशुद्ध है नित्य ही अवस्थित है एक रूप वाला एक रस वाला है ऐसा है चेत चैतन्य स्वरूप जिसका कार्य जिसने कर विज्ञान चित्र नहीं लेना बुद्धि नहीं लेना चेता से चेता मैंने विज्ञानम अस्य इति अवक्रचेता कैसे अवक्रचेत सो कौन है वो राजा के समान है कौन है ब्रह्म यम पुरम तम परमेश्वरम ऐसा जिसका यह पूरे तारस उस परमेश्वर को परस्वामी अनुष्ठाय ध्यान उस आत्मा का ही ध्यान करो ध्यान ही तथ्य अनुष्ठान समय विज्ञान पूर्वक ध्यान क्या है वही उस आत्मा का अनुष्ठान कुछ नहीं कोई क्रियाकलाप तो करना ही नहीं है बाह्य कर्मकांड तो होना नहीं है इस अनुष्ठान का तात्पर्य उस आत्मा का ध्यान है समय विज्ञान पूर्वकम ध्यानम तम सर्वेक्षणा विनिर्मुक्ता उस आत्मा को कौन अनुभव कर सकता है सकल येषाओं से जो विनिर्मुक्त है समम स्तम ध्यात्वा न सोचती ऐसे उस आत्मा को सकल भूतों में समान रूप से व्यापक रूप में स्थित उस आत्मा को अनुभव करके ध्यान करके न सोचते तर अवय प्राप्त हिताश आत्मा का ध्यान पूर्वक विज्ञान जो होता है अनुभव होता है उस अनुभव से अभय पद की प्राप्ति होती है शोकावसर अभाव कुतो भय जब शोक का अवसर ही नहीं रह जाएगा तो भय के दर्शन ही कहां से होना भय की इच्छा मैंने भय दर्शन यही अविद्याकृत काम कर बंधन विमुक्त भवती यही पर इसी शरीर में रहकर इस पुर में रहते हुए ही अविद्या और अविद्याकृत जो काम कर्म आदि बंधनों से निर्मुक्त हो गया निर्विमुक्त भवती विमुक्त सन इस प्रकार शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त होने के पश्चात विमुचित पुनः शरीरम न गृहणात अविधेय मुक्त हो जाता है दोबारा वह शरीर ग्रहण नहीं करता है सत तो नहीं का शरीर पूर्ववर्ती ये भी नहीं समझना कि एक पुर होता है यही एक पुर है और ये सब पुर नहीं है ऐसा मत समझो जितना शरीर है सब उसका नगर है अनेकों नगरों में घूमती करती रहता है जैसे बहुत बड़ा दस बीस कमरे का है आप अकेले मालिक कभी इस कमरे में सो रहे कभी उस कमरे में सो रहे मौज अपनी किसी में एसी लगा है किसी में जो है कूलर लगा है किसी में क्या पंखा है किसी हो भी नहीं है अपनी मौज है मर्जी होगी थोड़ा पछा निकल जाए तो बिना पंखे वाले कमरे में चले जाएंगे नहीं ज्यादा हो गया पसीना परेशान होने लगे तो जाओ एसी कमरे में सो जाओ ठंडी का दिन हीटर वाला अलग कमरा ब्लोयर वाला अलग लगा लो जैसे चाहो वैसे कहने को कमरे है, है ये सब में घूम रहा है इसी प्रकार है सारे पुरुष एक परमात्मा का ही सातमा ब्रह्म का ही विभिन्न शरीरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते भी अव्यवहारी बन के रहता है यही उसकी विलक्षणता है तीसरे कहते हैं देखो वो कैसा है एक शरीर आप तक पूर्ववर्ती है ऐसा नहीं व न एक शरीर पूर्ववर्ती एवं आत्मा किंतरे सर्वपुरवर्ती सकल पुरो में वही रहता है उपाधि भेद के कारण से नाना के समान होता है नाना युव पश्यति ननु नाना एव भवती नाना के समान है वास्तव में नाना नहीं तो एक इसी बात को कहने के लिए बहुत ही विलक्षण मंत्रार है अगंस शुचि शब्द वसुवंतर सद्धोता शब्द सत नृषद्वर सद्योम सद्व्योम सद्दब्जा जा अत्रिजारितम बृहत उसी के विभिन्न प्रकार से वर्णन किया जा रहा है वह हंस सभी शरीरों में गमन करने के माध्यम से वह भी गमन करने वाला हो जाता है अतः गमन करता होने से हंस है हन गति है ना हिंसा दोनों अर्थ में है गति अर्थ में सभी में गमन करने वाला वह आत्मा है शुचि आकाश में सूर्य रूप से चलने वाला भी चलने वाला होने के कारण वह शुचि आकाश विद्यमान अत्यंत शुद्ध पवित्र वस्तु है सूर्य और सूर्य के सूर्य रूप से वही इस संसार में चल रहा है इसलिए सूर्य भी ब्रह्म ही है शुचि और वसु व्यापक होने से वसा आच्छादन ईशावासम इदम जो आपने देखा सभी को व्यापक करके व्याप्त करके रहने वाला होने से उसका नाम वसु भी है उसी ब्रह्म को अंतरिक्ष सद भी कहेंगे अंतरिक्ष में वायु के रूप में बहता हुआ जो आप देख रहे हैं वह भी वही ब्रह्म है इसलिए उसका नाम अंतरिक्ष सदो सर्व सीधे गच दीदी सत सीधी व्यापनो दीदी यथा प्रसंग है उसी प्रकार से अर्थ आपको लेना है वेद शब्द होता और क्या होता है वो वेदी पृथ्वीयात्मक वेदी में स्थित होने से वह अग्नि है होता है होता मैंने यह अग्नि देंगे मंत्र प्रमाण उसमें वेदिशत होता का उसका मतलब है वेदिशत होता वेदी में ही स्थित रहने वाला वेदी हो गया पृथ्वी उसी में स्थित रहने वाला होने से उसका नाम होता है अर्थात वो अग्नि रूप ब्रह्म ही है अतिथिर दुरोण सत अतिथिर दुरोण सत दुरोण छांदस है द्रोण सत द्रोण को दुरोण कर दिया गया द्रोण एक कलश विशेष है पात्र विशेष का नाम है जिसमें सोम रूप रस अब उस द्रोण कलश में टपकने वाला रस स्वयं का नाम अतिथि द्रोण में ही सीरती गचती द्रोण में हुआ प्राप्त थी द्रोण कश्चात असौ अतिथि सोम रस यकीन हविष रूपा जो सोम रस है वह भी ब्रह्म ही है जड़ चेतन सारा ले रहा है जो लोग लिया पहले ये शरीर ले लिया हंसा जो कि जो गमन भरण करने वाला है सब फिर ले लिया शुचिशा द्यूलोक फिर वसु सर्वव्यापक त्रिलोकात्मक और फिर अंतरिक्ष सत अंतरिक्ष लोक का ले लिया फिर होता वेदिशत सरल कर्म कांड कारण अग्नि को ले लिया जिस कर्म कर्म का साक्षी रूपा है वो उस कर्म साक्षी अग्नि को लेने के बाद कर्म स्वरूप कर्म का हविष्य रूपा जो है सोम रस को अतिथि शब्द से ले लिया इतना ही नहीं वो नृषद मनुष्यों में गमन करने वाला है प्राण रूप भी वही है और वरसत भी है वरसत है दशरथ के बाद वरसत देवताओं में भी गमनशील है वर्णीय पुरुष गण है वर श्रेष्ठ पुरुष गण है देवता लोग उनमें भी गमन फिरन करने वाला तत्व गमन कारण वो तत्व वही है गमन करता वही है और कहते हैं हृदय सत सत ऋत का द्वार होता है एक सत्य होता है एक यज्ञ सत्य में निरंतर स्थित रहने वाला है अतः यज्ञ में जो प्रतिष्ठित हुआ भी ब्रह्म है व्योम असद आकाश में चलने से वह व्योम सब खाना अब जा जल में शंख रूप में विराजमान जल में मगरमच्छ बन गए जल में मछलियां बन कर जो कुछ विद्यमान है या गमनशील है वह सारा चीज वो ब्रह्म ही है गोजा इस पृथ्वी में जो गेहूं चावल वगैरह होता है ये सब ब्रह्म ही है ऋतजा यज्ञ रूप से उत्पन्न होने वाला जो है प्रथम यज्ञम तदर्थम में जाए दीदी ऋतजा दूध आदि जो होता है गायों में जिसे आप दही बनाओगे सब बना करके हवन करेंगे हम वो भी सारा का सारा चीज ब्रह्म ही है अद्रजा ये अग्री पहाड़ों में जो उत्पन्न होता है वर्षा के माध्यम से आकर के नदी का रूप धारण करके जो है समुद्र तक चलता हुआ लोक का कल्याण करता है वह नदियां भी ब्रह्म ही है सत्य स्वरूप वस्तु भी तत्व ही ब्रह्म ही है बृहत और सब का कारण होने के नाते महान है ऐसा आत्मा जो कथम उस पर बोलते हैं हंसो हंति गच्छति थी हंस सर्वत्र गमन करने वाला वही है शुचिशत शुचौ दिवी शुद्ध कौन है दिवलोक उसमें आदित्य आत्मना सूर्य रूप है जो भ्रमण करता है वह भी वही ब्रह्म है वसुहो वास सर्वानिति वसुहो सभी को व्याप्त करके सभी को वास प्रदान करने वाला है जो तो उसको कहते हैं वसु अर्थात ब्रह्म वायु आत्मा अंतरिक्ष अंतरिक्ष सत वायु रूप से अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाला होने से उसका नाम अंतरिक्ष सत भी है होता अग्नि होता क्या है होता शब्द का अग्नि समझना क्यों अग्निर्वय होता श्रुत है ये श्रुति कहती होता कौन सी अग्नि वेद शब्द अग्नि वेद्याम पृथ्व्याम सीधती थी वेद शब्द जो पृथ्वी में रहने वाला है उसको उस अग्नि को कहते हैं होता इसमें क्या प्रमाण है यम वेदी परो अंत पृथिव्या इत्यादि मंत्र वर्णा ऋग्वेद की संहिता ब्राह्मण है यम पृथ्वी यम वेदी ये पृथ्वी वेदी है और इसके भीतर में क्या अंता परवस्ती पर में अग्नि है अग्नि रूप से ब्रह्म ही है इत्यादि मंत्र ही प्रमाण है अतिथि सोम अतिथि क्या है सोम है सोम होते हुए रहता कहा है द्रोणे कलश है सीधती द्रोण सोम रूपी अतिथि द्रोण कलश में रहता है और तारस रहने वाले का नाम जो सोम है वही वास्तव में ब्रह्म है ब्रह्मण अतिथि रूपेण वा द्रोणेश गृह सीधे दीदी अथवा जो ब्राह्मण है वह अतिथि रूप से जो है सकल द्रोण मैंने गृहेश सकल घरों में जो जाता आता है इसलिए वह भी ब्रह्म है निश्चित नृषु मनुष्येश दीदी निषद और मनुष्यों में रहता है इसलिए उसको नृषभ कहा गया है वरसत वरेशु देवेशु भी सीधे दी थी वरसत वर मैंने श्रेष्ठ पुरुष जो देवता लोग है उनमें भी वही रहता है इसलिए उसको जो है वरसत भी कहा गया ऋतसत ऋतम सत्यम यज्ञो वृत शब्द का क्या है सत्यत्वा यज्ञ तस्मिन सीधती रतसत उसमें रहने वाले को क्या कहते हैं कहते हैं सत्य में प्रतिष्ठित जो है यज्ञ में प्रतिष्ठित जो है उसका नाम व्योम असत्य व्योम या आकाश स्थिति थी व्योम असत आकाश में जो रहता है इसलिए उसका नाम व्योम असत भी है अब्जा अब शंख शुक्ति मकराज रूपे जायते थी अब्जा जल में शंख शुक्ति हाँ ये सब जड़ ले लिया मकर आदि जो चेतन रूप दिख रहा है जड़ चेतन जो कुछ भी जल में उत्पन्न हुआ करता है वो सब विवाह ब्रह्म ही है गोजा मान एक गवी पृथ्विया ब्रीही आवाज रूपेण चाहे दी थी गोजा इस पृथ्वी के अंदर में क्या होता है गेहूं धान जौ इत्यादि रूपेण जो उत्पन्न हुआ करता है वो भी ब्रह्म ही है ऋतजा यज्ञ रूपेण जायते थी यज्ञ रूप से जो उत्पन्न हुआ करता उसका नाम प्रजा ऋता ने यज्ञ ले लिया तद अंग रूपेण भी जो है ऋतु में यज्ञ में रहता है ना वो ब्रह्म है ही और यज्ञ के अंग रूप से जो रहता है वो भी ब्रह्म ही और द्रिजा पर्वते भी जाए थी दृजा पर्वतों से नदियादि रूप में जो प्रकट हो जाए उसका नाम भी वह द्रजा है वो ब्रह्म ही है सर्वात्मा सन ऋतम अवित स्वभाव यद्यपि सर्वात्मा है वो फिर भी वो अवित स्वभाव वाला है मिथ्या स्वभाव वाला नहीं इनके सब रूप धारण कर गया तो इसलिए वो विनाशी हो जाएगा मिथ्या हो जाएगा ऐसा ना समझे किंतु वो इसलिए अंत में रथम कह दिया गया वह इस सर्वात्म भाव को प्राप्त होने के बावजूद भी सर्वरूप को प्रधारण करने के बावजूद भी वह अविधत स्वभाव वाला ही होता है अविधत मैंने अमिथ्या विधत मनी मिथ्या इसलिए वो बृहद है महान सर्व कारण सभी का कारण रूप ही होने से वो महान है यदापि आदित्य एवं मंत्रण उच्चते कुछ लोगों का कहना है यह संपूर्ण मंत्र के द्वारा आदित्य का ही कथन हुआ है संपूर्ण मंत्र क्योंकि इसका मंत्र का जो ब्राह्मण भाग है वेद में वह ऐसा है असौ वही आदित्यो हंस सुषद इत्यादि ब्राह्मण भाग है बाकी सब वही है हंसा सुषद इत्यादि ब्राह्मण के इससे आर में क्या था असौ वही आदित्यो फिर आप सारे नामों को ब्रह्म पर क्यों घटाए ये सब तो आदित्य पर घटाने का मामला है प्रकरण तो आदित्य का है और आपने ब्रह्म पर सब घटा दिए ऐसे कैसे कर दिया आपने तब सिद्धांत कहता है यदि मान भी लिया जाए इसको आदित्य का प्रकरण है इसलिए आदित्य को ही यहाँ इस मंत्र के द्वारा कहा गया है यदा अपि आदित्य एवं मंत्र न उच्चते तदापि तब भी अस्य आत्म स्वरूप आदित्य से अंगीकृत लेकिन जो ये जो ब्रह्म है वो आदित्य का भी आत्म स्वरूप ही है इसलिए आदित्य है ये सब कहने वाला मतलब? वास्तव में लक्ष्य क्या हो रहा है आदित्य का जो शुद्ध स्वरूप है आत्म स्वरूप ब्रह्म है उसी को इन शब्दों से लक्षित किया गया है ब्राह्मण व्याख्यान विरोध इसलिए उस ब्राह्मण भाग का इस मंत्र भाग के साथ व्याख्यान करने में कोई परस्पर विरोध नहीं है सर्वव्यापी एक आत्मा जगतो नात्म विदित मंत्रार्थ इस मंत्र का निष्कर्ष अर्थ यही है सर्वव्यापी एक आत्मा एक में वह द्वितीय आत्मा है जो सर्वत्र व्यापक हर रूप में इस जगत के अंदर इसलिए कोई आत्मभेद नहीं हो सकता आत्मभेदा भाव को कथन करने लिखा और मंत्र कहते हैं आत्म स्वरूपाधिगम लिंगम उच्चते आत्मा के स्वरूप का अधिगम कैसे होगा यही हम प्रति चिकित्सा नायम पीछे के कहा था ना जो पूर्व में जो संशय का मूल जो था उसको निर्मूल करने के लिए देह से व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व अनेक प्रकार से सिद्ध किए हैं देह से भिन्न आत्मा वो जो आत्मा है वो अनंत नहीं वह एक है आत्मवेद नहीं है यह बात अनेक प्रकार से सिद्ध करते आए हुए हैं उसी के स्वरूप को ग्रहण करने की तरीका बता रहे कैसे आपको यह स्वरूप ग्रहण हो गया ऊर्दम प्राण मुन्नयती अपानम प्रत्यगस्यति मध्य आसीनम विश्व देवा उपास जो हृदय देश में प्राण वृत्ति को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान वृत्ति को नीचे की ओर ले जाता है मध्यवा मनमासीनम और मध्य में हृदय कमा में रहने वाला उस संभजनीय वनु संभजनीय वामनीय संभजनीय होता वह जो है परमात्मा ब्रह्म है उसके प्रति ही विश्व देवा विषम ने सर्वे देवाहा मने इंद्रियाणी ये सारी इंद्रिया अपने अपने विषय रूपी शब्द रूप रसगंधा आदियों को ले जाकर उस आत्म रूपा जो हृदय के अंदर बैठा हुआ है उसको बलि भेंट पूजा चढ़ा रहे हैं उपासक है उसी प्रकार से जैसे राजा है उसको चारों तरफ से पूरे शहर के वैश्य लोग क्या करते हैं बलि भेंट पूजा देते रहते हैं जिंदगी में तो उनका काम चलेगा नहीं व्यापारी है न काम है राजा को धन दौलत देते हैं पूर्वम हृदयात प्रारंभ प्रारवृत्तिम वायुम उन्नयती ऊर्धम गम्य हृदय से प्राण को मैंने प्राणात्मक वृत्ति विशेष वायु विशेष को ऊर्दू की ओर पुण्य ऊपर की ओर ले जाता है हृदय से ऊपर की ओर फैला देता है और तथा अपान प्रत्येक अधो अश्यति उस अपान को नीचे की ओर ले जाता है छिपक फेंक देता है या जो वही ब्रह्म है वो आत्मा है यदि वाक्य शेष है तम उस आत्मा को क्योंकि वहां पर वामनम आसीनम चिंता कर रही है ना यह तब के बिना होगा नहीं जो ऐसा है उसी को मध्य हृदय पुंडरी का आकाश है हृदय पुंडरी का आकाश में हार्द आकाश में हृदयावच्छिन्न आकाश में आसीनम बुद्ध अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम बुद्धि में आसीनम का मतलब वहां कोई बैठा है कि आसन लगा करके चौकटी लगा के ऐसा नहीं हो सकता अर्थ करते हैं आसीनम मैंने बैठा है ऐसा अर्थ नहीं करने का क्या है वो बुद्ध अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम उस आकाश में जो हृदय बुद्धि रूपी दर्पण के ऊपर वह विज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है वह अभिव्यक्त होता है विशिष्ट रूपेण होगा अनुभव में आता है वहीं पर वो भी कैसा है इसलिए वामनम संभजनीय सम्यक प्रकार से सेवनीय ध्येय बुधा वस्तु है ध्येय नहीं है गटपटादि रूपेण किंतु ध्येय है वो स्व अभिन्न रूपेण स्वभिन्न रूपेण ध्येय भी नहीं है वो स्व अभिन्न रूप से ध्येय है इसलिए विश्व मन सर्वे देवा चक्षुरादय प्राणा चक्षुरादि जो प्राण स्वरूप वस्तु है ये क्या कर रहे हैं अपने अपना जो माल पानी उनके पास क्या है जिसके पास जो माल पानी वही तो ले जाके चढ़ाएगा भेंट इनके पास क्या है रूपाधि विज्ञानम चक्षुरादियों के पास रूपाधि विज्ञान है उसको बलिम उपाहरण तो उन्हीं चीजों को ले जाके उस आत्मा को भेंट करते रहते हैं जैसे विषय राजानम जैसे वैश्य राजा के प्रति जा करके अपने पास जो धन पानी उसको भेंट देकर उसको प्रसन्न करता है ताकि उसके व्यापार में कोई अवरोधक न बढ़े और अनावश्यक टैक्स वगैरह लागू न कर दे नहीं तो खुश रखे रहेंगे उसके पास जो कोष जरूरत है उसको वो मिल रहा है तो फिर क्यों परेशान करेगा राजा अभी अगर इनकम टैक्स चोरी कर लेते सर अब क्या करें नए नए टैक्सों को लगाना पड़ता है और उसको भी चोरी करने का रास्ता सीख लेते हैं गजब है जितनी प्रकार के टैक्स डालो बिना दिए ही जीने वाले बहुत है देश कैसे चलेगा पहले ऐसे नहीं था ईमानदार थे वैश्य इसलिए वो समय प्रकार से समय से और उचित बलि भेद पूजा राज्य को पहुंचाते थे उपास अनुप्रद व्यापार भवन इसलिए आत्मा के लिए ही निरंतर प्रवृत्त होने के नाते ये इंद्रिया अपने मन मर्जी व्यापार रहित नहीं हो सकते निरंतर व्यापार करते अनुपरत व्यापार भवंदी तो वो अपने तरह से संबंध काट लेता है आवरण ऐसे आपके अंदर बढ़ जाएगा और तमगुण से नींद आ जाएगी और नींद आ जाने से अपने आप ये संबंध खत्म होता है नहीं ये अपने लगे ही रहेंगे ये कभी बंद होने वाले नहीं है कई बार होता भी है चौबीस घंटा जो है चली रहा है खोपड़ी नहीं इंद्रिया मन चल रहा है कभी तो हाथ पैर भी चल रहा है सब कुछ होते रहता है पटाते रहता है अंदर आएगा बाहर जाएगा अंदर आएगा बाहर जाएगा कमरे से नहीं कई बार इस तरह आप देखते हैं इंद्रिया 24 घंटा चल सकती हैं चलती रहेंगी अंबानी थक जाता है कितना लेगा मटेरियल थक जाता है जब थक जाता है तो उस अपने अंदर और खान पीन का भी एक परिणाम विशेष है एक तमोवृत्ति विशेष बनेगा निद्रा में चले जाते हो तो संबंध अपना पर निद्रा के कारण से टूट जाता है दोष के कारण दारूप एक दोष है और दोष के दोष ना हो वो दोष के बिना जीना भी मुश्किल है आदमी का वही जाकर जल्दी इसलिए भगवान ने सारी लीला बना रखी हुई कि जो है ठीक है तभी तो आदमी चलते रहेगा तो उनका भी काम चलेगा बीच बीच में जैसे आप पशुओं को हरा चारा देते रहते हो तब तो दूध दाद देगा वो विकास तो देगा केवल पानी पी करके सुबह घास चढ़ के थोड़े देंगे कुछ हमारे बीच बीच में रोज देते हो उसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं कि भाई हमारी पूजा पाठ ध्यान भजन तभी तो कर पाएगा रोज इसको तो नींद दे देता है खुराक और जो नहीं भी आता वो गोली खा के इसलिए उसमें चले जाते हैं जाएंगे तो देसी काम चले तो इसीलिए कहते कि देखो ये सारे के सारे तागर तो थे ना अनुप्रत व्यापार है उपरत व्यापार वाले हो नहीं सकते अनुप्रत व्यापार वाले यदर्थ प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरण व्यापारा सौन्य सिद्ध वाक्यार्थ निश्चित इसमें हुआ इसलिए यदर्थ जिसके लिए प्रवृत्त हो रहे हैं और जिससे प्रेरित होकर प्रवृत्त हो यद प्रयुक्ताश्च प्रवर्तन थे सर्वे वायु कर्ण व्यापारा सभी के सभी वायु और सभी के सभी जो कर्ण इनके जो व्यापार है जिसके लिए किया जा रहा है और जिसके प्रेरित होकर हो रहा है वह जो है स्वयं सबसे भिन्न है ये सिद्ध हो गया सो अन्य सिद्ध वाक्यार्थ किंच इतना ही नहीं और भी हेतु तो से सिद्ध किया जा सकता है क्या है अस्य विश्रम समान शरीरस्थ से देहिन देहादिमुच्यमान किमत्र परिशिष्यते तद्वै तत् शरीर देना शरीर में स्थिति जो देही आत्मा है जब विश्रम समान इसका अर्थ नहीं करना विनाश होता हुआ यदि विश्रम समान होता है ध्वंस होना संसु ध्वंसु अवसंसन नाश होना लेकिन नाश नहीं इसलिए विश्रम समान तो स्वयं श्रुति याद कर रही है क्या देहाद विमुच्छमान से आत्मा देही जो है नष्ट हो नहीं सकता इसलिए देह से अलग होता हुआ इसका विश्लेषण क्या है इसका नाश क्या है वास्तव में इस शरीर से अलग होना ही उसका नाश के समान नाश है उनके वास्तविक आत्मा का नाश तो हो नहीं सकता है इसलिए कहते हैं विश्रंस हमारा की व्याख्या देहाद